बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं और क़यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है